अगर उन दोनों में अल्लाह ताला के सिवा और भी मबूद होते तो उन दोनों में ज़रूर फसाद बरपा हो जाता सो अर्श का रब अल्लाह ताला पाक है उनसे जो वो बयान करते हैं